यस्साक्षात् प्रबोधसमये स्वात्मा तस्मै श्रीगुरु श्रीदक्षिणा सम्भोगे विप्रलम्बे भाति भूतो परतानाम् विक्षेपेवासमादो विवरन् पुना ब्रह्मविधि इत्थम् लोकैरशोकैरनुपदमधिकम् भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानुतीर्थ पथि पथि प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक प्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः विषय के कर्म करना ही नहीं करना वो तो कर्म शास्त्र का ये जो लोग इसी मीमांसा में पड़ जाता है सर्वकर्म के हैं कर्म तो असल में शास्त्र से ईश्वर ये विषय है धर्मशास्त्र तो वेदांत का विषय क्या है वेदांत का विषय है सत्य क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है दोनों हैं अलग अलग परमात्मा का विषय है सत्य का अनुसंधान और कर्म करे कि न करे करे तो क्या करे क्या न करे ये जो लोग अनुसंधान दर्शन शास्त्र का विषय है तत्वानुसंधान तत्वानुसंधान माने पृथ्वी क्या है जल क्या है अग्नि क्या है वायु क्या है आकाश क्या है मन क्या है मैं क्या हूँ ईश्वर क्या है जगत का मूल कारण क्या है इस काल कारण से परे कोई तत्व है क्या और वो है तो उसका अनुभव कैसे होता है ये है वेदांत का विषय तो आत्मा और परमात्मा की एकता को छोड़कर और सब विषय से तो दर्शन जुदा जुदा है न्याय दर्शन है वैसे है शांत है जीवन है और आत्मा परमात्मा की एकता का दर्शन है वेदांत दर्शन अर्जुन के सामने प्रश्न छात्र कि युद्ध के लिए उसको भगवान ने उन से हटाने वाले कारणों को हटा दिया तो गीता शास्त्र जो है वो कर्म करने की विधि नहीं है विधान नहीं है ये जो कर्म करने में अर्जुन की मानसिक बाधाएं थी उनको निवारण कर देने का शास्त्र है ये अपूर्व विधि नहीं है वो अपूर्व विधि नहीं है एक तो जब भगवान ने कहा तस्मा दूसरे सुधारो पर युद्ध करो युद्ध करो हमने ये जो तुम्हारी युद्ध से निवृत्ति है अज्ञान भूलक निवृत्ति है अपने को कर्ता मानकर निवृत्ति है भोक्ता मानकर निवृत्ति है परिच्छिन्न मानकर निवृत्ति है प्रवृत्ति हो कि निवृत्ति हो पहले तुम असलियत को समझो तो कि क्या है तो भगवान ने अनेक दृष्टियों से ये बात बताई कि ये जो तुम युद्ध से विमुक्त हो रहे हो ये तुम्हारी ही गलती है अलग है स्वधर्म से स्थिति इसके लिए उन्होंने एक बात ये कही कि अपने को कर्ता और कर्म का विषय मानना अज्ञान है ये बात आपके ज्ञान में इसके लिए उन्होंने उपनिषद से मंत्र ही कर जयनम देशी हंतारम जैनम मन्यते हतम उभौ सैन नायम हंसी मन्यते अज्ञान की पहचान क्या है आत्मा को अंता माने कर्ता समझना और हिंसा करते आत्मा को मारने वाला समझना आत्मा को जाने आने वाला समझना आत्मा को करता समझना काफी तुम्हें आत्मा समझना अपने को आत्मा को भोक्ता समझना किसी किसी समझना ज्ञान का जयनम देश हंकारम जो समझता है कि आत्मा मारता है करता है और दक्षिण मन से आता और जो ये जानता है कि आत्मा मारा जाता है आत्मा मरता है तो आत्मा का सुंदर आत्मा होना आत्मा का सुखी दुखी होना आत्मा का आगे जाने वाला होना और आत्मा का परिचन्न होना ये चार बात जो आत्मा के बारे में जानता है कि आत्मा हमका है कि रत है आत्मा में कुछ करता है और न आत्मा किया जाता है माने में आत्मा करता है न होता है और जो इसको करता पुरखा समझता है वो अज्ञानी है इसको दूसरे ढंग से भी सुना है देखो किसी की जानकारी में अगर ये बात न हो तो उसको सूचना चाहिए हमको नई बात करना चाहिए और जिसकी जानकारी इस संबंध में पहले से है उसके लिए तो ये दोहरानी है हाँ, दोहरा लो ज्ञान का लक्षण क्या है देता हूं ज्ञान क्या है तो ये आत्मा अविनाशी है अजन्मा है अव्यय है अब जान लिया कि आत्मा अविनाशी है तो मरने का कर्ज हमारा कैसे जाएगा हाँ। जान लिया अजन्मा है अव्यय है ये आत्मा तो उसको कौन मारेगा और वो किसको मारेगा कथन का पुरुषार्थ हम सांसेती न वो कुछ करता हुआ और न कुछ कर्म हुआ न मारेगा न मारा जाएगा ये आत्मा न मारा जाता है न मारता है यह आत्मज्ञान और आत्मा मारता है और मारा जाता है ये है अज्ञान आप गीता के दो श्लोक में ये बात देख लो जय नम वेत्यंताम जस्म मन्यते हतम उभौ कौ न बिजानी को उभौ कौ दोनों अज्ञानी है नायम हंति न हन्यते न ये मरता है न मारा जाता है न हनन क्रिया का करता है और न हनन क्रिया का बोलता है ये किसी को मारता भी नहीं और किसी से मारा जाता भी नहीं ये अगले व्यक्ति अर्थात छोटे यम हो ये आत्मा का स्वरूप और वे दिव्य जिसने इसको जान लिया तो संघाती अंतिकाम वो न किसी को मारता है और न किसी के मारने का विषय होता है न उसको कोई मार सकता है और न वो किसी को मारता है आत्मा का ज्ञान स्वरूप ये है और हाँ। दूसरी बात देखो कि जब आत्मा मरता मारता नहीं है तो ये धर्मानुसार जो युद्ध में प्रवृत्ति है इससे निवृत्त क्यों होना क्यों रुकना दूसरी बात ये बताइए कि धर्म के अनुसार शांति के अनुसार कर्तव्य के अनुसार तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए और भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन किया तो ये ज्ञान और बुद्धि योग दोनों एक चीज नहीं है समझ बुद्धि योग दूसरी चीज है और स्वरूप ज्ञान दूसरी वस्तु है एक अज्ञान है और एक ज्ञान है ये द्वंद्व है और एक दोनों का प्रकाशक स्वरूप भूत ज्ञान है ज्ञान वृत्ति ज्ञान और अज्ञान सर्वविध अज्ञान और दोनों जिससे मालूम करते हैं वो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो अज्ञान और ज्ञान ये दोनों कारण कार्य हैं और ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है वो कारण है कार्य है एक ज्ञान ऐसा है जो अज्ञान का बेटा है वृत्ति ज्ञान उसको बोलते हैं हाँ। और एक ज्ञान ऐसा है जो न किसी का बाप है न बेटा है बल्कि वृत्ति ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रकाशक है तो भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग का बड़ा महात्मा बताया महाराज ये क्या है सही संसार का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान दोनों के बीच में एक बुद्धि योग स्थित है यदि मनुष्य को बुद्धि योग मिल जाए तो वो संसार में भी सफल होगा और परमात्मा की ओर अग्रसर होने में भी सफल होगा एक मध्यवर्ती स्थिति है बुद्धि योग अकल से काम करो तो अकल से काम करना चाहे हसो हसोगे तो मारेगा चीजों की बड़ी बुद्धि से परमात्मा मिलता है बुद्धि योगम उपाश्रित मज्जत स्वतम बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपना मन भोजने लगाओ साधन बदान बुद्धि योगम ये बदाम भगवान जिसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं उसकी बुद्धि को और उसको बुद्धि योग देते हैं बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपना मन भगवान में लगाओ ये ये कुछ देते हैं और भगवान में बुद्धि लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं तब बुद्धि देते हैं ये दूसरी बात तो बुद्धि योग अनुपात करते का प्रसन्न बाबा भगवान ने बुद्धि योग का आश्रय लेकर भगवान ने मिल और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो बुद्धि देंगे मत्स्य मध्य బోధయంతఃపరస్పరం కథయంతమాం పుష్యంతి చాంతి తేషాం సతతయుక్తాం భగతాం ప్రీతిపూర్వకం సదా బుద్ధియోగం తం జేన మామకుయాంతి अब अर्जुन के क्या हुआ कि जिस ओर आत्मा और ब्रह्म के अकर्तापन भोक्तापन के अभोक्तापन के ज्ञान को भगवान ने ज्ञान था और इधर कर्म और परमात्मा की प्राप्ति दोनों के लिए बुद्धियों का उपदेश किया था अर्जुन ने उस आत्मज्ञान को बुद्धि जोड़ में लगा दिया और बुद्धि जोड़ को आत्मज्ञान में लगा दिया अब प्रश्न ये हुआ कि हमें बुद्धि चाहिए कि कर्म मिले अर्जुन ने सीधे सीधे भाई सरल अर्जुन ने प्रश्न किया दिखाई से पर भगवान ने उत्तर दिया सौजन्य से बालक है ना जो बालक कछु अंकित नहीं गुरु केतु तो मातु मोट न भरे यदि बच्चे से कोई गलती हो जाती है वो कुछ तो अनुचित कर बैठते हैं तो गुरु है माता है पिता है तो कहते हैं भाई हमारे बच्चे की बुद्धि बढ़ रही है आपके घर में बच्चा हो और खेलते खेलते कोई चीज छिपा के आ गए या गुप्त रूप से घर में से निकाल ले आ गए आपसे पूछो कि तुमने ये काम किया है और किसे नहीं किया है वो लड़ाई देखो बताई जा रहा है अब इसमें चतुराई अब इसमें चतुराई आ रही है बालक का दोष देखा बालक का दोष देख करके रोग नहीं आता पुरुष होते हैं महात्मा होते हैं क्योंकि असलियत को तो जानते नहीं है कितने भी कठोर होते हैं कितने भी निपुण हो जाए उनको सत्य का तो ज्ञान है नहीं इसलिए बालक है आपको जब गलती करते हैं तो ज्ञानी पुरुष उनके ऊपर नाराज नहीं होते हैं वो कहते हैं देखो उनकी बुद्धि कर रही है कैसी चलाती कर रहे माता गलती तो भी नाराज नहीं होते अभी कहीं सोचते हैं खुश तो होते हैं तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया उन्होंने जरा देना लगता है चेत कर्मस्ते पहले हम लोगों को हो गाते उसका कारण अब हमारे समझ में आता है कि उसका कारण क्या है ये लोग कुछ श्लोक बोलते हैं अशुद्ध वो आ करके उसको पूरा कर देते हैं तो छंदोबंध क्या होता है उस आदमी को पता ही नहीं चला कि श्लोक में छंदोबंध कहाँ है इसलिए बीती सिद्धि सिर्फ कमती ये जो पाठक है जाकर बोलने वाले हैं जल्दी जल्दी बोलने वाले हैं सिर हिलाकर बोलने वाले हैं न समझ के बोलने वाले हाँ, गुनगुना के बोलने वाले ये लोग जो है पाठ साधन शिक्षा शास्त्र में इनको बोला गया ये पाठ साधन क्योंकि लोग में एक अक्षर कम हो पटी पाठ पूरा कर देंगे और एक अक्षर ज्यादा हो तब भी द्रुत गति से द्रुत गति से उनको बढ़ा देंगे तो श्लोक की अशुद्धि का उनको पता नहीं चलेगा हाँ।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 जीव में तदेकम वन ये श्रेय किसी भी श्लोक को अगर जाना नहीं पड़ता है तो हम समझ जाते हैं हम लोग जानकार हम माने हम और हमारे ये संस्कृत जानकार श्रेयो हमारा ये न श्रेयो हमारा यदि माँ को गुरु पढ़ा जाए तब तो श्लोक में संभव नहीं है इसकी संभावना आगे भी नहीं रहेगी और वैष्णव को वर्षो करके चढ़ा जाएगा तो आगे कहीं ऐसा प्रसंग आएगा तो गुरु को न दिखेगा कभी संबद निश्चितियो दिनश्रेयो ऐसे लोग अब देखो अर्जुन का संबोधन आप लोग कैसे हो गए जनार्दन कहने का उपाय क्या है कि आप अपने जन को रोक रहे हैं निज जन निष्ठो अपनी वाली हो तो कहीं देखो आज भूखे रह जाओ मेहमान आ रहे हैं घर में उनको खिलाएंगे मेहमान को घर पे खिलाएंगे नए आदमी को आगे और घर वाले को कहेंगे क्या आप आगे कोई यदि जो परमेश्वर है वो निर्जन निष्ठ तो अपनी शक्ति दूसरों को दे देता है और जब करती है तो अपने भक्तों की चीजें भी दूसरों को दे देता है क्योंकि वे अपने अपनों की वस्तु लेने में उनको भूखा रखने में उनकी चीज खाने में और भगवान को तो ऐसा लगता है बल्कि अपनी बेटे को तो आज कोई खुशी होती और अपने भक्त की भी चीज दे दिया तो हमारे भक्त को भी खुशी होगी भगवान ने सुन लिया तो, तो जन्म अपना क्या उसका अपना नहीं उसको रोकना उसको कुचलना तुम बताते तो हो अपने आप को ही अंत मानो इस समय तुम्हें युधिष्ठिर का पक्षपात है पक्षपात है तुम चाहते हो ये एक हम सिद्ध करें तो करना ठीक नहीं समझते हैं तो बार बता करवा के कहते हो नहीं युद्ध करना चाहिए बनाते हो एक मार बना ये बार बना अपने जन को अर्पण करने वाले मर्पण करने वाले अच्छा, तो जनार्दन छोड़ इसमें एक पद का अनुरोध हो गया है साहित्य की दृष्टि से तो जन के पहले का पुष्प हो गया उसके के कारण तो जहाँ नहीं है वहाँ बना के दिखा देती है उस माया का नाम है जना माया माने जादू का पेड़ है ना जना माने जाति माया इंद्रजाल इंद्रो माया ये पूरी रूप ये जिस परमात्मा में ये जगत नहीं है उसी परमात्मा में उसी शुभ ब्रह्म में जहाँ ये नहीं है वहाँ इसको दिखा देती है इसका नाम है माया जगत जनयत गणित प्रादुर्भाव जनयत जगत इसी जना माया काम अर्धवती तो और माया का एक रूप और जो चीज जहाँ हो आसमान हो है तो यहाँ नित्य दुख दुख मुक्त परमात्मा यही है अभी है यही है लेकिन माया ये है कि जो है वो तो दिखता ही नहीं इसका नाम हुआ माया और जो नहीं है जगत उसको दिखा रही है इसलिए उसका नाम है माया जन इस माया को कौन मारता है तो प्रत्येक चैतन्य भिन्न वृत्ति में आरूढ़ होकर के भगवान मारते हैं जब हमारी आत्मा से अभिन्न होकर के भगवान ब्रह्मात्म का जब उदय होगा तब ये जो माया है है तो ना करने वाली और ना तो है करने वाली ये जो माया है इस माया की मृत्यु हो जाती है इसलिए भगवान का नाम है जनार्दन अब दूसरा संबोधन है केशव केशव में क्या होता है आपको देखो शुरू से देखिए हम सब तो हमारे कानूनी व्याकरण में तो ईश्वर होता है प्रसक्ता केता अस्य इति केशव के साथ गोम्य परस्याम इस शब्द से वह प्रत्यय होता है तो केशव शब्द होता है उसका अर्थ होता है जिसकी बाल पर ही हंसराने काम श्री कृष्ण प्रसन्न से नब्बे बरस की उम्र में तो गीता का उपदेश करते हैं नब्बे बरस से लोग जा रही है कम नहीं और महाराज बाल वो मजेदार हैं काले काले चंद्राले और नहीं बाल की विशेष आप लोग अपना क्या हैं बाल काले हों धुंधराले हों और घने हों धीरज में धीरज में घने हो कितने हों सब बालक से कहेगा और विदेशी हो तो अपने सुना में बाल को रखा समझे उससे हमारा मतलब हम भारतीय बाल की बात करते हैं सारे सारे सारे सारे गुजरारे महीने और कितने और घने पांच गुण डालने होने तो ये पांचों गुण श्री कृष्ण में हो एक बात और श्री कृष्ण के बाल में पांचों हो एक बात और है यदि शिवरा कुछ काला हो तो अपने जो काले काले बाल हैं ना उनको थोड़ा सा कानों से आगे खींच लेना तब उससे क्या होगा तो चेहरा आपका चाहे जितना भी काला हो उससे ज्यादा काला तो बाल होगा होगा कि नहीं तो उस काले बाल के सामने आपका चेहरा चमक उठेगा इसलिए काले बाल को आगे कर लेते हैं हाँ, ये मैंने कोई ब्यूटी हाउस में जाकर नहीं सीखा है देख देख देख के सीखा है हम भी पहले नहीं बता कि तो थोड़ा हटा दिया ऐसे कहते तो केशव शब्द का अर्थ है बड़े सुंदर बालों वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनकी अलकावली उनके चेहरे पर मुखारदन पर नकती है इसलिए उनको केशव महाभारत में केशव शब्द का अर्थ किया हुआ है सीता अनुसव जैसे आप चित्र में देखते हैं चेहरे के साथ एक मंडल बना देते हैं रोशनी निकल रही है तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबंद से जो सुनहली आधा निकलती है उसी को बोलते हैं के तो हिरण्य के कहा हिरण्य जो वेदों में वर्णन आता है परमात्मा के लिए वो उसकी जो प्रज्ञा अंकित प्रमाण जो निकलता है ना जिसको गौरव जिसको शंकराचार्य भगवान ने प्रज्ञान अंकित प्रमाण की फिर सरल परत व्याप व्याप के लोकान जो कहा है उसमें जो अंशु है ना ज्ञान की किरणें नई किरणें निकलती हैं श्री कृष्ण भगवान के मुखार बंद से मुख चंद्र से मुख चंद्र की रश्मियों का नाम है देश तो कुछ विशिष्ट केस वाले होने के कारण श्री कृष्ण को बोलते हैं केशव अब देखो एक तीसरी व्याख्या है केशव वो क्या है अब आप लोग गीता पूरी करना चाहोगे तो अपन तो बरस बरस में राजशंकर ध्यायी की कथा करिए है ना राजलीला के पांच अध्याय एक बरस अपन आस्वादन करते हैं वो तो नहीं कमाते हैं जिनको स्वाध्याय करना हो उनको कि पंडित के साथ जाकर के और सख्त सख्त ग्रंथ पूरा कर लेना चाहिए और ग्रंथ का यदि रस लेना हो उसका स्वाद लेना हो तो उसमें जल्दी नहीं कर सकते देखो कच्च अस्त ईपक्ष तान वयसे प्रसाक्षी इसी की स्व माने ब्रह्मा अमाने विष्णु और ईश माने शिव ये एक एक ब्रह्मांड में तीनों अलग अलग होते हैं ऊपरी एक श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्य का देश सरदार को सुन रहा था विश्व प्रतिमा को उतारा भगवान की मूर्ति कैसे बनती है उसका मतलब किस मसाले से भगवान की मूर्ति बनती है भगवान की मूर्ति का मसाला क्या है तो, तो उसमें दो विष्णु का वर्णन एक तो बारह विष्णु मानते हैं रामायण संप्रदाय बारह प्रकार के विष्णु और ऐसे भी मानते हैं कि महानारायण के एक एक रोने के छेद में कोटि कोटि ब्रह्मांड होता है और एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं तो उनकी गिनती तो हो नहीं सकती इसी से रामचरित भारत में का वर्णन है हरिहर सतदेश अकारा मन समीप आए बढ़े जाना अगणित उमा रमा ब्रह्मानी जितनी उमा जितनी रमा जितनी ब्रह्मानी अलग अलग होते हैं तो एक विष्णु तो वो होते हैं जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं और एक विष्णु वो होते हैं जो समस्त प्रकृति सकल विष्णु एक होते हैं सकल विष्णु और एक होते हैं कलावान विष्णु तो कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि विष्णु एक एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु और एक संपूर्ण ब्रह्मांडों की समस्ती में एक विष्णु तो इतने विधि हरिकाम बचावन हारे विधि विधि ही विधिता हरे ही हरिता शिव शिवता जोदयी को जान की सके तो ये ब्रह्म परमात्मा में और और ई ब्रह्मा विष्णु और शिव अनेक होते हैं उन सबके ऊपर जिनका शासन है उनका नाम है केशव केशव सब को नियंत्रित रखते हैं हजार हजार ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश को जो अपने पक्ष में रखते हैं उस सूर्य तत्व का नाम उस सूर्य तत्व का नाम केशव है साक्षात ब्रह्म अर्जुन ने कहा भाई तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर है लेकिन इन बालों में कहीं हाथे तो सही हो हमारी बुद्धि में कोई रुझान कोई समस्या तो नहीं पैदा करते हो साफ मालूम चलता है कि तुम कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो हाँ, बुद्धि है विभागाध्यक्ष और कर्म करने वाली जो इंद्रिया है वो है चपरासी देखो बुद्धि निश्चय करती है और यहाँ से अवलनाथ चलना चाहिए तो मन संकल्प करता है कि अच्छा चलो तो निश्चय बुद्धि में होता हो चलना चले कि न चले चले ये संकल्प है चले कि न चले ये विकल्प है ये दोनों हुआ मन में और नारायण बुद्धि ने निश्चय किया चलना चाहिए और आप चलने लग गए चलता कौन है काम मन बुद्धि से निवेदन करता है कि बाबल नाथ चलना चाहिए तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए ये बुद्धि निश्चय करती है और फिर पांव चलते हैं तो मन तो है पेशकार हो और बुद्धि है जड़ है और ये पांव जो है ना पांव और ये चक्राती का काम करता है कर्म कैसे होता है तो कौन बड़ा चक्राती बड़ा कि जज बड़ा तो निश्चय करने वाली बुद्धि हुई बड़ी और पहुंचाने वाला पांव हुआ छोटा कर्म होता है पांव से भाई हमारे पुत्र हैं अरे एक आफिस में हमारे भारी आफिस में सेक्रेटरियट में काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं अच्छा वहाँ काम करते हैं तो क्या करते हैं भाई अरे भाई आफिस में काम करते हैं अच्छा वहाँ पास है तो नहीं नहीं तो क्लर्क है तो नहीं नहीं वो लोग तो हुक्म दे हुक्म देता है एक सड़क चलाता है वो कोई ऑफिस में काम करते हैं जब मतलब तक तुम्हारे पुत्र क्या काम करते हैं तो हमारे पुत्र शरीर से सचमुच तो काम तो हमारे पुत्र ही करते हैं रजिस्टर यहाँ से वहाँ ले जाना कोई चीज पहुँचाना है हाँ, हाँ, वो तो हमारे पुत्र ही करते हैं तो बोले तो ये तो साफ हो गया कि बुद्धि बड़ी है और कर्म छोटा है मन निवेदन करे पुरस्कार पेश करे बुद्धि निश्चय करे और उसके बाद हाथ पांव आदि काम करे तो कर्म तो बड़े छोटे हो गए एक बात और है अब उसने नौ भारत टाइम कल की परसों एक वो पढ़ाता हूँ किया था हाँ। तो साहब ने पूछा कि क्यों भाई तुमने ये काम कर लिया उनका नहीं साहब मैंने सोचा बोले चुप सोचना मेरा काम है करना तुम्हारा काम है हाँ। तो भाई जायती के कर्म को तो मता बुद्धि जवाब बना यदि ये निश्चित है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है जयसी मान श्रेयसी ये ज्या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और देश ज्येष्ठ से ज्यायसी और श्रेष्ठ से श्रेयसी ये व्याकरण के अनुसार प्रतिबंध कर यदि तुम मानते हो कि बुद्धि ही देश और श्रेष्ठ है उसी का निश्चय ठीक होता है और पहले वही निश्चय करती है तो जब बुद्धि श्रेष्ठ है ये बात निश्चित है कि कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि उत्तम कर्मणि गोरे माम नियोजयति के तब तुम मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो सत्य सपना अर्थ सत्य तेन ही सुना तुम तो ऐसी कारण है तो कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो और सत्रापि घोरे कर्मणी ये भयंकर काम महाराज मारने का युद्ध का अरे हमको कह दो करो ध्यान करो ठीक है माला फेरो ये भी ठीक है मंदिर में चल के पूजा करो ये भी ठीक है तुम्हारी बात मान के हम कर्म करें लेकिन ये मारने काटने का काम तुम हमको क्यों इतने सुंदर होते केशव इतने सुंदर होते इतने मधुर होते माया को चुराने वाले होते तुम इतने भयंकर काम में मुझे क्यों बुला रहे हो क्यों लगा रहे हो ज्ञान प्रेम आपके नो बुद्धि मोह जीव में सभी कम वद निश्चित ये नो श्रेयो आत्मयाम कुछ ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि को तुम सम्मोहित कर रहे हो एक्सरसाइज हाँ, कर रहे हो हमारे ऊपर अपनी जादूगरी चला रहे हो मैं समझ गया बुद्धि वो है पूर्व में तुम मेरी बुद्धि को मोहित ही कर रहे हो इसमें भी कोई सावधानी है साफ नहीं कहा कि मोहित कर रहे मोहित भी कर रहे मित्र होकर के मित्र की बुद्धि को कोई गड़बड़ाता नहीं है तो तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास तो है कि तुम हमको ठीक रास्ता बताओगे लेकिन बात समझ में नहीं आई है तो मालूम पड़ता है कि हमारी बुद्धि को तुम मोहित भी कर रहे हो अरे अर्जुन मैं तुम्हारी बुद्धि को क्यों मोहित करने लगा भला ऊर्जामित्रे तुम्हारे वाक्य जो है वो साफ नहीं है आदेश तो है परंतु स्पष्ट नहीं है ज्ञानित्र है ज्ञानित्र है माने कुछ विपरीतता से मिश्रित है ज्ञानित्र माने मिला जुला है तो मिश्र माने मिला हुआ आ माने थोड़ा मिला हुआ और बी माने विपरीत थोड़ा मिश्रित तुम्हारे वचन कहते हैं तो कभी बुद्धि की प्रशंसा कभी कर्म की प्रशंसा कभी बुद्धि योग कर्म बुद्ध कर्म मंदिर कभी बुद्धि का आग्रह तो कभी कर्म का कर्म रेवाधिकारक से माँ फले की सदाचन नियतम कुरु कर्मत्व कर्म ज्यायो कर्मणा सत्सम सत्सम सुख बोलते हैं सवेकम ज्ञान श्रेय योगाद्य यद्यपि तुम्हारे वचन मिले जुले नहीं होंगे सुविधा में डालने वाले नहीं होंगे सुविधा में डालने वाले वचन अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए वाक्य का एक अर्थ ज्ञात होना चाहिए और हमारी बुद्धि को सम्मोहित न करो उसको ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल कर दो सदैकम वगैरह येन हम हमापनुयाम तो एक बुद्धि बुद्धि की हमें तुम आज्ञाकारी बना रहे हो कि तो विकारक बना रहे हो बुद्धि योगी माने विकारक हाँ। और कर्मी माने कर्म करने वाला तो हम किस हम काम करें तुम्हारी आज्ञा में बस हमारी समझ की कोई जरूरत नहीं है कि हम समझदारी से काम करें हम करें क्या तो बताओ तुम इससे करके बताओ असल में हम श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं ये न श्रेयो हम आप श्रेयो भोक्तम वैश्यमती हरोगे मनुष्य के सामने एक आता है इंद्रियों का विषय स्वामी बहुत बढ़िया लगता है भोगने में बहुत बढ़िया लगता है देखने में बहुत बढ़िया लगता है सच्चा तुम बता और एक चीज ऐसी होती है जो नतीजे में परिणाम में अच्छी है तो श्रेय उसको कहते हैं जिसका नतीजा अच्छा हो और प्रेर उसको कहते हैं कि जो तत्काल तो बहुत बढ़िया हो लेकिन बाद में तकलीफ दे मनुष्य ने कहा पौषम परिचय विधिनस्थिरा तो जो बुद्धिमान पुरुष है विद्वान पुरुष है वो प्रेयस्कर का वर्णन करता है प्रेयस्कर का वर्णन नहीं करता है और महाराज रोग को पहले से ही और गाया दुखी गए और जीत पर चक्कर डाली बहुत मीठी लगी खा गए हम ही करते हैं गए महाराज बहुत ऊंची रही तो ये नहीं देखा कि इससे शुगर बढ़ेगी तकलीफ बढ़ेगी नतीजे पर ध्यान नहीं दिया तो ये खाने में तो बहुत अच्छा है लेकिन नतीजे में हानिकारक है इसको बोलते हैं प्रेम बच्चा महाराज क्रोध का आदेश आया दुश्मन को मारी डालेंगे और हमको भी फांसी पर चढ़ना पड़ेगा ये सारी नहीं आया है ना लोग आया किसी किसी की ली अरे ये तो बहुत बढ़िया है ये ख्याल नहीं आया कि हमको तो लोग चोर समझेंगे बेईमान समझेंगे हमारे बारे में लोगों का आइडिया बिगड़ जाए ख्याल बिगड़ जाएगा लोगों का और लोगों का ख्याल बढ़िया बना रहे यही बहुत जरूरी है हाँ। लोगों का ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये स्वार्थी है ये हिंसक है, और ये लोभी है और ये कामी है जब तुम्हारे ऊपर लोगों का विश्वास बना रहेगा ना तभी तुम्हें लेकर व्यवहार में सफलता मिलेगी तो श्रेयस के चक्कर में नहीं पड़ते श्रेयस जो परिणाम सुखद है परिणाम में बनाई का काम है वो देखना अर्जुन कहते हैं देखो युद्ध तो जीत लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है ये तो एक जीवन की बात है अरे राज्य तो आते जाते रहते हैं आज तक कौन ऐसा राजा है जिसका राज्य हमेशा रहा और जो राज्य पा करके सुखी रहा तो ये राज्य जीत लेना युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना ये तो प्रेय है और अपने आत्मा और परमात्मा का जो साक्षात्कार है जो त्याग है जो संन्यास है तो वो तो श्रेयस्कर है तो हमको जो श्रेयस्कर पर है वही बताओ ना इसके उत्तर में भगवान बोले भगवान बोले क्या मीठा बोले भाई पहले ही अर्जुन को अनग कहकर बहुत संबोधन किया हो लोकेश विधान था मया नघ हे अनग मैंने अर्जुन जो तुमने ये सिखाई की बात की है या रोया रहा है शुरू में बहुत रोया रहा है और भीख मांगने के लिए तैयार हो गया है और हमको भला बुरा कहा है हाँ, हाँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पहले तुम कर दिया हे अनग हाँ, तुम बहुत अब सुनो हम श्रेष्ठ बात आपको सुनाते हैं जो आपके जीवन में आपका कल्याण करने वाली हो वो बात सुनाते हैं